आसन को व्यवस्थित कर उससे संतुष्ट हो लें व्याकुल शरीर आप प्रसन्नता के साथ अपना सौभाग्य मानते हुए इस शुभ कर्म के लिए संकल्प करें आज की ये प्रातःकालीन उपासना मुझे ईश्वर के और निकट पहुंचाएगी साधना के पथ पर मैं एक कदम और आगे बढ़ूंगा मन को श्वास पर केंद्रित करें श्वास को धीमा लंबा लयबद्ध बनाएं और जागरूकता से उसका अनुभव समान गति से पूर्ण नियंत्रण के साथ अंदर श्वास लेते समय पूरा पूरा श्वास भरें और छोड़ते समय पूरा श्वास बाहर निकालें मंद गति से धीरे से रुकेंगे तीन बाह्य प्राणायाम श्वास को एक बार पूरा भर के तेजी से बाहर निकाल दें मूल बंध लगाएं ना अभी और नीचे का भाग पीछे की ओर खींच लें घबराहट होने तक यथाशक्ति रोके रखें और फिर श्वास लेते हुए मूलबंध को छोड़ दें एक तो सामान्य श्वास प्रत्याहार इंद्रियों को विषयों के तीव्र संपर्क से पृथक रखें मन से इंद्रिय के विषयों को जानने की तरफ प्रवृत्त न होकर अंतर्मुखी बनाए रखना धारणा लगा लें रखे ध्यान ओम शब्द ओम के अर्थ निराकार सर्वव्यापक परमात्मा की भावना सर्वरक्षक परमात्मा मेरे चारों ओर मेरे अंदर विद्यमान निराकार परमात्मा में डूबा हुआ मैं निराकार आत्मा जिनको खांसी अधिक हो रही है वे कृपया बाहर चले जाएं ओम का जप एक बार धुन तो को सुन लें फिर उसके अनुरूप उच्चारण करें ओ सर्वव्यापक सर्वरक्षक परमात्मा दूर दूर तक विद्यमान मेरे निकट चारों ओर विद्यमान मुझ निराकार आत्मा के अंदर भी विद्यमान ईश्वर में डूबा हुआ मैं निराकार आत्मा ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करें मैं कविता की पंक्ति बोलूंगा उसके अनुरूप भावना बनाए रखें आप सभी मौन रहें Tum. चरम लक्ष्य हो हम पथिक हैं आपके ओम का मानसिक जप करते हुए ईश्वर से किसी एक संबंध को घनिष्ठता से स्थापित करें मेरे हो आप मेरे अपने हो आप धीरे से रुकेंगे आगे गायत्री मंत्र अर्थ की भावना ईश्वरीय प्रेरणा की आवश्यकता को अपने जीवन में अनुभव करते हुए उसकी कामना मानसिक जप से रुकते हुए कविता के माध्यम से उन्हीं भावनाओं को करेंगे केवल एक बार बोलना है को संध्या वैदिक मंत्रों के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे परमात्मा से सुख वृष्टि की कृपा वृष्टि की कामना ओ पुरुषार्थ के स्मरण पूर्वक सबलता की प्रार्थना मन को उस उस अवयव पर लेते चलेंगे चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ की प्रार्थना तो शेरा से Oh. तीन बाह्य प्राणायाम श्वास को पूरा अंदर भर के रोकना है मूल पंथ लगा लें मन में प्राणायाम मंत्र अथवा ओम का जप आप लोग प्राणायाम करते रहें ओ आगे अघमर्षण अपने पिछली उपासना के बात के यदि हुआ हो तो उस गलत कर्म का स्मरण करें दुर्भावना दुर्विचार अथवा पूर्व के किसी गलत कर्म को हटाने के लिए स्मृति में उभारें भावना रखें सर्वशक्तिमान परमात्मा के रहते इस गलत कर्म से दुर्भावना से मुझे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है मेरा पाप बनेगा और दंड मिलेगा गलत संस्कार पड़ेगा जो कि साधना में बाधक बनेगा च सत्यं चाभिथा तपसोऽध्यजायत ततो ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या धाता यथा पूर्वमकल्पयत् देवञ्च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो ज्ञानपूर्वक समझ के साथ दुर्गुण और दुर्भावना को मैं क्षीण कर रहा हूं मैं इससे पृथक रहना चाहता हूं इसी में मेरा कल्याण है ईश्वर से और कृपा की प्रार्थना शन्नो देवी रभिष्टया तये संयोरभिस्रवन्तु नः मनसा परिक्रमा जिन्हें मंत्र और अर्थ याद नहीं है वे भावना बनाएंगे सभी दिशाओं में विद्यमान निराकार परमात्मा विभिन्न शक्तियों से विभिन्न सामर्थ्यों से युक्त है वो समस्त संसार का स्वामी है अधिपति है वह हमारी रक्षा करने वाला है मैं उसको नमन करता हूं जो मेरे से द्वेष करता है मैं जिससे द्वेष करता हूं हे प्रभु उसे आपकी न्याय व्यवस्था पर छोड़ रहा हूं उससे संबंधित तनाव खिंचाव से अपने को मैं पृथक कर रहा हूं जिस व्यक्ति के प्रति द्वेष उभरा हो उनको स्मृति में ला सकते हैं अथवा पुराना कोई द्वेष किसी के प्रति अत्यधिक द्वेष उसे स्मृति में लाके ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ दें प्राची अग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्योऽस्तु योऽस्मान्देष्टियं वयं दिश्मस्तं वोचं भेदत्मः दक् दक्षिणातिकेन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशव तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नम एभ्योऽस्तु योऽस्मान्देष्टियं वयं प्रतीचि आकुरक्षिता आकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नम ईशुभ्यो नम हेभ्यस्त योऽस्मान्देष्टियं वयं दिश्मस्तं गोजम्भे दद्मः उदीचिदिक्सोमोऽधिपते स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमो तिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो तोचं भेदत्मः ध्रुवातिक्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीव रक्षिता विरुध ईशा पार्थिभ्यो नम रक्षेतृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्देष्टियं वयं दिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो श्लेष्मस्तं ईश्वर को नमन करते हुए द्वेष से पृथक होते हुए पवित्रता को संपादित कर आप में ईश्वर की निकटता को और गहराई से स्थापित करूंगा ईश्वर के साथ अत्यंत निकटता अत्यंत आत्मीय भाव अत्यंत अपनापन उद्वयं तमसस्परि स्वाहा पश्यन् के तव देशे विश्वाय सूर्य चित्र देवानामुत पृथिवी अंतरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरद शत जीवेम शरद शत शृणुयाम शरद शत प्रब्रवाम शरद शतम् अतीनाः श्याम शरद शत भूयश्च शरदः शता परम देव परमात्मा देवों के लिए सदैव हितकर होता है अध्यात्म मार्ग पर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता हुआ मैं भी देवत्व की ओर बढ़ रहा हूं जितना जितना देवत्व मुझ में आता जाएगा परम देव की कृपा उतनी उतनी अधिक मेरे पर होती जाएगी समर्पण प्रार्थना हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनातिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणाम् सत्य न ईश्वर को अत्यंत श्रद्धा से नमन अभिवादन ईश्वर के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव आदर का भाव सदैव कल्याण करने वाला परमात्मा सर्वोच्च सम्मान के योग्य है ओ नम शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कर हेवतराय च ईश्वर के प्रति नमन का भाव बनाए रखें अपने को उस अध्यात्म अध्यात्म साधना का पथिक आध्यात्मिक यात्रा कर रहा एक आत्मा स्वीकार करें आध्यात्मिक यात्रा ही मेरी वास्तविक यात्रा है बाह्य साधनों का सदुपयोग लेता हुआ अन्यों को सहयोग देता हुआ मैं आध्यात्मिक मार्ग पर पढ़ता चलूं मौन रहते हुए गीत की पंक्ति को सुनेंगे हे ईश अब तो तुम ही हो मेरे तो लक्ष्य तुम ही हो तुम्हारी राह पर तो मैं चला चलूं बढ़ा चलूं हे ईश अब तो तुम ही हो मेरे तो लक्ष्य तुम ही हो तुम्हारी राह पर तो मैं चला चलूं बढ़ा चलूं जीवन ये ऐसा चल रहा इधर उधर में फंस रहा मगर में बचते बचते भी बढ़ा चलूं तेरी तरफ जीवन ये ऐसा चल रहा इधर उधर में फंस रहा मगर मैं बचते बचते भी बढ़ा चलूं तेरी तरफ मगर मैं बचते बचते भी बढ़ा चलो तेरी तरफ अपने जीवन की दिशा आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ाते चलनी है आप आज की उपासना के लिए अच्छे क्षणों के लिए परमात्मा को धन्यवाद करें अपने को प्रोत्साहित करते हुए अपने में आत्मविश्वास पैदा करते हुए आगे और अच्छी उपासनाएं करने का संकल्प योजना यदि अभी अच्छी मानसिक स्थिति है तो बनाए रखें यदि कुछ ढीलापन है तो उपासना के उच्च क्षणों को उच्च अनुभूतियों को स्मरण करें और फिर अच्छी स्थिति बना लें आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए नेत्रों को बंद रखते हुए धीरे धीरे हाथ की अंगुलियों में गति प्रदान करें मुट्ठी को एक बार बंद कर लें खोल लें हाथ को भिन्न स्थानों पर सरका लें पीछे हाथों का सहारा लेते हुए पैरों को गति प्रदान करें धीरे धीरे खोल लें पैरों को थोड़ा सक्रिय करें नेत्रों को थोड़ा खोलकर संतुलन के साथ धीरे धीरे खड़े हो जाएं। मानसिक स्थिति बनाए रखें नेत्रों को पुनः बंद कर लें दोनों हाथ अभिवादन मुद्रा में प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा अर्पण है सारा बड़े चले हम रुके न क्षण भी बड़े चले हम रुके न क्षण भी हो यह दृढ़ संकल्प हमारा हो यह दृढ़ संकल्प हमारा हो यह दृढ़ संकल्प हमारा हो यह दृढ़ संकल्प हमारा नेत्रों को धीरे से थोड़ा खोलें दृष्टि नीचे रखें आंतरिक स्थिति बनाए रखें आज आसन प्राणायाम की कक्षा नहीं होगी पौने सात बजे से यज्ञशाला में यज्ञ प्रारंभ होगा बीच में अपनी व्यवस्था